बावन बावन नंबर की कारिका प्रारंभ हो रही है उसका उपक्रम लिखते हुए वाचस्पति मिश्र लिख रहे हैं स्यादे पुरुषार्थ प्रयुक्ता सृष्टि ही सृष्टि में क्या है भोग और अपवर्गार्थ यह सृष्टि प्रवृत्त है क्यों प्रकृति प्रवृत्त होती तो पीछे आया था भोग और अपवर्ग के लिए इसीलिए उन्होंने कहा स्याद एतद पुरुषार्थ प्रयुक्ता सृष्टि ही पुरुषार्थ माना भोग और अपवर्ग इसके द्वारा या सृष्टि माना या सर्ग उत्पन्न व प्रगतिर महान तो अहंकार गण चतुर्थ का ये कहा था वही कर पुरुषार्थ प्रयुक्ता सृष्टि सचा पुरुषार्था प्रत्यय सर्गात हवा जो पुरुषार्थ भोग और अपवर्ग वो बुद्धि का जो सर्ग है धर्म अर्थ ये सब है ना जो धर्म का धर्म है वैराग्य ज्ञान है वैराग्य है उसके द्वारा सब होने वाला है इसलिए का सच पुरुषार्थ भोगा फवर गुरु पुरुषार्थ प्रत्यय सर्गात व अथवा तन्मात्र सर्गात व सिद्धि अथवा तन्मात्रा सर्ग से सिद्ध होता है अथवा प्रत्यय सर्ग है इति दो सर्ग क्यों मानने जा रहे एक प्रत्यय सर्ग आप मान रहे हो एक तन्मात्रा सर एक किसी एक सर्ग से सिद्धि काम हो जाए तो द्वय का क्या प्रयोजन है प्रत्यय सर्ग में क्या होता है प्रत्यय मन बुद्धि बुद्धि से अहंकार अहंकार से तन्मात्राएं एकादश और तन्मात्रा सर्ग में क्या आता है पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं यही हो गया तन्मात्रा सर्ग इसीलिए कहने जा रहा उन दो में से एक किसी सर्ग से ही यदि भोग और अपवर्ग की सिद्धि हो जाए तो सर्गद्वय की मानने का क्या प्रयोजन है इसके ऊपर किम उभय सर्गेण इत्यत आह ईश्वर कृष्ण न विनाभावैर्लिङ्गं न लिङ्गेन भावनिर्वृत्तिः लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्मात् वेधा द्विधा प्रवर्तते सर्गः उन्होंने कहा कि यह जो पुरुषार्थ है मन भोग और अपवर्ग रूप जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ के विषय ना बिना भावैर लिंगम जो भाव हैं उन भाव के बिना लिंग मन सूक्ष्म शरीर नहीं हो सकता वो भाव बताए थे शांत घोर मूढ़ा भावा उनके भेद तीन बताए थे इसलिए उन्होंने कहा भावीर बिना न वही भाव ही वही लिख रहे हैं भाव के बिना लिंगम मन तन मात्रा सर्गम थी माने बिना भाव के लिंग मन तन मात्रा सर्ग नहीं हो सकता और लिंगेन बिना न भाव निर्वृत्ति जब तक तन्मात्रा सर्ग नहीं होगा तब तक तो धर्म धर्म वैराग्य इनकी सिद्धि नहीं होगी तो इन दोनों में क्या परस्पर उपकार उपकारक भाव है न बिना लिंगम न लिंगेन बिना भाव निर्वृत्ति ही अतः लिंगाख्यो भावाख्य इसलिए एक लिंगाख्य माने तन्मात्रा वाला सर्ग भावाख्य माने वह जो प्रत्यय सर्ग तस्मात द्विधा प्रवर्तते सर्ग इसलिए दो प्रकार से सर्ग क्या प्रसंग आता है पहले लिखने जा रहे हैं लिंगम इति लिंग से यहाँ लेना तन्मात्रा सर्गम उपलक्षयति लिंग माने तन्मात्रा सर्ग बिना भाव की तन्मात्राएं नहीं होती हैं और तन्मात्राओं के बिना भाव नहीं होता भावई इतचा प्रत्यय सर्ग भाव पद से लेना है प्रत्यय सर्ग और लिंग पद से लेना है तन मात्रा सर्ग मने पंचभूत और प्रत्यय सर्ग में क्या आता है महद अहंकार एकादश इंद्री ये सब आता है तन मात्रा सर्ग में एत अरे भाव सर्ग में एतद उक्तम भवती अनेन श्लोकेन एतद उक्तम भवती यह इससे सिद्ध होता है तन मात्रा सर्ग स पुरुषार्थ साधनत्व तन मात्रा सर्ग क्या करता है तन मात्रा सर्ग मतलब पंच महाभूत उस पंच महाभूत से ये शरीर बना हुआ है इससे क्या होता है पुरुषार्थ का वो साधन है इसी से स्वर्ग मतलब अपवर्ग और भोग इसी शरीर में मिलता है इसलिए क्या हो गया पुरुषार्थ का साधन हो गया जो पंचभूतों से जायमान यह शरीर है पुरुषार्थ रूप है वही कहने जा रहे हैं पुरुषार्थ साधन तुम स्वरूपंचा न प्रत्यय सर्गात बिना भवती परंतु ये पुरुषार्थ का साधन बिना प्रत्यय माने इंद्री के बिना भोग कर सकता है कि नहीं कर सकता है इसलिए कह रहे न प्रत्यय सर्गात बिना भवती एवं प्रत्यय सर्ग से स्वरूपम यदि जो प्रत्यय सर्ग है यदि कोई पुरुषार्थ का साधन ना हो तो प्रत्यय सर्ग क्या करेगा वही कह रहे प्रत्यय सर्ग से स्वरूपम किम भवती पुरुषार्थ साधनत्वंच प्रत्यय सर्ग का सर्ग का स्वरूप है क्या प्रत्यय पुरुषार्थ साधनत्वम वो किसके बिना नहीं हो सकता है न तन्मा सर्गा चरित तन्मा सर्ग के बिना पुरुषार्थ साधनत्व नहीं हो सकता है अप्रत्यय सर्ग के बिना वाक्य नहीं हो सकता है पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती था इन दोनों की उभयता सर्ग प्रवृत्ति ही इसलिए दोनों प्रकार का सर्ग हमको बनाना पड़ेगा माने प्रत्यय सर्ग की भी आवश्यकता है और तन्मात्रा सर्ग माने पंच महाभूतों की भी आवश्यकता है क्या है तो पहला बताना भोग पुरुषार्थ जो भोग नाम का पुरुषार्थ है पुरुषार्थ दो हैं भोग और अपवर्ग उसने अपवर्ग माने मोक्ष तो जो सुख दुख अन्य तर साक्षात्कार भोगा जो सुख दुख इन दोनों का जो अनुभव है वह कौन सा है भोग नाम का पुरुषार्थ है जिससे वह भोग रूप जो पुरुषार्थ के लिए तीन वस्तुओं की अपेक्षा होती है एक भोग्य होता है एक भोगाधिकरण होता है एक भोग का साधन होता है तो भोग्य कौन हो गए ये संसार विषय भोग का अधिकरण जहाँ पर सुख दुख अन्य साक्षात्कार हो रहा शरीर में और भोग के साधन कौन हो गए इंद्रियादि हो गए वही लिखने जा रहे हैं भोग पुरुषार्थो न भोग्यान शब्दादीन और जो भोग हो गए रूप रस गंध विषय हुए भोग इनके बिना भोगायतन चा भोगायतन बोलते हैं शरीर को शरीर का लक्षण क्या है न्यायता भोगायतनम शरीरम वही भोगायतनंच पहले शरीर द्वय मंतरेण दो शरीर एक सूक्ष्म शरीर है एक स्थूल शरीर है इसलिए उन्होंने कह दिया भोग का जो आयतन है भोगाधिकरण जो शरीर है वह दो प्रकार का स्थूल और सूक्ष्म के भेद से वही कहने जा शरीर द्वयम कह दिया भोग का आयतन चा शरीर द्वयम अब शरीर द्वय के बगैर भोग्य पदार्थों का साक्षात्कार नहीं हो सकता है इसलिए न भवती इति उपपन्नम तन मात्रा सर्ग इसलिए तन मात्रा सर्ग हुए भूत उन भूतों से बना यह शरीर तो जब यह शरीर होगा तब इसी में सुख दुख अन्य तरह का साक्षात्कार होगा तथा भोग के अधिकरण की सिद्धि तन मात्रा सर्ग से होती है और सुख दुख अन्य तरह जो सा, साक्षात्कार या बुद्धि सर्ग से होता है अतः भोगान शब्दादीन भोगायतन च मंत्रेण न संभवती उपपन्न तस्मात उपपन्नम तन्मात्रा सर्ग सा एवं स एव भोग जो भोग है सुख दुख तरह साक्षात्कार जो भोग है वह भोग बिना करण के नहीं हो सकता भोग के साधन के बिना नहीं हो सकता है अतः भोग साधनान इंद्रियाणी इंद्री भी भोग के साधन है अंताकरण भी भोग का साधन है वही कह दिया भोग साधनानी इंद्रियाणी अंताकरणानी चा अंतरण न संभवती जब तक भोग के साधन इंद्रिय अंताकरण नहीं होगा तब तक उसको भोग की उपलब्धि नहीं होगी इसलिए उनको अंताकरण इंद्री की आवश्यकता है इसी अंताकरण इंद्री सर्ग का ही नाम तो कौन सा सर्ग है प्रत्यय सर्ग है न चतानी अब जा जो हमारा इंद्री की प्राप्ति अंताकरण की प्राप्ति संसार की प्राप्ति अदृष्ट के अधीन है न चानी धर्मादिभिर भावेर बिना संभवंती जो इंद्रिय है इंद्री सर्ग है जो हमारी इंद्रियां हैं जो अंताकरण है इन सब में कौन कारण है मुख्यता अदृष्ट कारण है इनकी उत्पत्ति में अर्थात दोनों सर्गों के लिए किसकी अपेक्षा है अदृष्ट की आवश्यकता है इसलिए कह रहा तानी मन इंद्रियादि जो करण है धर्माधिर भावेर बिना संभवंती न चा अपवर्ग हेतु और जो उसी प्रकार धर्माद की बिना नहीं हो सकती है उसी प्रकार अपवर्ग का जो हेतु है विवेकाख्याति इनका प्रगति पुरुष व्यक्ता व्यक्त ज्ञा मैंने व्यक्त और अव्यक्त पुरुष का जो ज्ञान है इसी का नाम है विवेकाख्याति और विवेकाख्याति कैसे होगी वही न चा अपवर्ग हेतु विवेकाख्यातु उभय सर्गेण बिना जब तक दोनों सर्ग नहीं होगा तब तक मानव को विवेक ख्याति नहीं होगी जब विवेक ख्याति हो तब अपवर्ग रूप अपवर्ग रूप पुरुषार्थ मिलेगा वही उभय सर्गेण बिना अनुपन्ना अतः उभय विधा सर्ग दोनों प्रकार का जो सर्ग है वह प्रत्यय सर्ग एक और एक हुआ तन्मात्रा सर्ग प्रत्यय सर्ग शुरू होता महद अहंकार एकादश इंद्रियाणी पंच तन्मात्राएं और पंच तन्मात्रा से जायमान जो सर्ग है उसका नाम है तन्मात्रा सर्ग जो पंच महाभूत उस पंच महाभूतों से यह अंबिज उद्वस्त ये चार शरीर ये सब किससे बने हैं तन्मात्रा सर्ग से जायमान पंच महाभूतों से उसी को कहने जा रहा तानी धर्मादिभिर बिना संभवंती न च अपवर्ग हेतु विवेकाख्यात उपसर्गेण बिना अनुपन्नम अतः उभय आज दोनों अनादि हैं कब से आ रहे हैं कुछ पता नहीं है जैसे बीज पहले था कि वृक्ष था कि वृक्ष पहले था कि बीज था वही कहना बीज और अंकुर अनादित्वात अनादित्वाच बीज अंकुरन न्याय न बीज अंकुर न्याय के द्वारा इसमें अन्योन्याश्रय दोष नहीं है जैसे जहाँ पर भाष्यकार लिखते हैं सृष्टि में अनादित्वात अन्योन्याश्रय नास्ती पहले वृक्ष था कि बीज था तो कहे परस्परा श्रयाण कार्याणी न प्रसन्नते उन्होंने कहा अनादित्वात ये अनादि इसमें अन्योन्य आश्रय दोष अनादि वाले में माना नहीं जाता है उसी प्रकार कह रहे हैं यहाँ पहले प्रत्यय सर्ग है तन्मात्रा सर्ग है इनमें क्या अनादि होने से इसमें मानने कोई आवश्यकता नहीं है अर्थात पहले धर्माधर्म है कि सृष्टि है कि सृष्टि है कि धर्माधर्म है जब धर्माधर्म हो तब सृष्टि हो जब सृष्टि हो तो धर्माधर्म हो तो अन्योन्याश्रय आश्रय आ जाएगा तो कहीं अनादि चल रहा है अनादित्वात् बीजाकुर बीजांकुर न्यायो बीजांकुरवत न अन्योन्याश्रय दोष भाव कल्पाद कह फिर कल्पना कह याद प्रकृति से मान्य शादी प्रतीत हो रहा है उस पर लिखने जा रहे हैं कल्पादो प्राचीन कलोत्पन्न माने जो कल्प के आदि में उसके पहले जो कल्प था यथा पूर्व कल्पयत जैसा पहले था उसी प्रकार की सृष्टि होती है ब्रजाण बताती उपनिषद उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं प्राचीन कल्पोत्पन्न भावलिंग जो इस कल्प के पहले जो कल्प था वहाँ पर जो धर्मा धर्म पुण्य पाप ज्ञान वैराग ईश्वर था उनका जो लिंग शरीर था पंच तन मात्राएं एकादश इंद्री और अहंकार और बुद्धि अठारह तत्व वाला वही भाव लिंग संस्कार बसात लिंग और उत्पत्ति भावों की भी उत्पत्ति हो जाती है और लिंग माने तन मात्राओं की क्या हो जाती है उत्पत्तिर नानुपन्ना यह सब का सब हो जाता है इसमें कोई दोष नहीं है सर्वम अवदातम मतलब तो स्पष्ट है ये सब यह सर्वम अवदातम इस प्रकार से बामनवी कारिका संपन्न हुई अब उनका अलग अलग प्रत्यय सर्ग और भूत सर्ग को विभाग करके लिखने जा रहे हैं कि प्रत्यय सर्ग कितने प्रकार का होता है और भूत सर्ग कितने प्रकार का होता है विभक्त प्रत्यय सर्ग और भूत सर्गादिकंचा विभजते मन प्रत्यय सर्ग और भूत सर्ग को विभाग करके बताने जा रहे हैं पहले अष्ट विकल्पो देवः तैर्यज्ञो नश्य पञ्चदा भवति मानुषश्चैकविधः समासतो भौतिका सर्ग हम लोग जो भौतिक सर्ग हैं तो कह रहे हैं आठ प्रकार के देवता होते हैं मन अष्ट विकल्पा देवा विकल्प माने प्रकार आठ प्रकार के देवता होते हैं मतलब तो लिख रहे हैं नीचे कौन है आठ प्रकार के तो बताएंगे ब्रह्मा है प्राजापत इंद्र है पैत्र है गांधर्व है याक्ष है राक्षस और पिशाच ये देवयनी भी राक्षस है पिशाच भी देवनी में आता है ये निम्न देव है ये सब यक्ष भी देवयनी है गंधर्व भी देवयनी है ये सब देवयनी के अंतर्गत आते हैं उन्हीं का नाम बताने जा रहे हैं वही का पितृलोक का मतलब पैत्र मान पितृलोक में होने वाला पित्र है इंद्र है ये सब सर्ग हैं ये कितने हैं आठ देवताओं के वेद हैं फिर तिरयग योन मैंने जो तिरयग पशु पक्षी वाली योनि कितनी है तो पांच हैं वह कौन कौन से पांच बताने जा रहा है एक है पशु है एक मृग है एक पक्षी है एक सरीसप है एक स्थावर ये पेड़ पौधा ये किसके अंतर्गत आते हैं त्रियग योनयश्या पंचदा भवती और मनुष्य के प्रकार का होता है एक प्रकार का मन तीन एक फिर ब्राह्मण क्षत्रिय आवंत्र भेद बहुत है मानुष कश्चा एक विधा ये हो गया भौतिका सर्गा समासता संक्षेप से भौतिक सर्ग की हमने कल्पना बताई क्या बताई भौतिक सर्ग की कल्पना कर दी अब गिनाने जा रहे हैं कि आठ विकल्प जो बताए कि आठ प्रकार के देवता होते हैं कौन कौन है तो इस पर लिख रहे हैं वाचस्पति मिश्र तत्सांग दी ब्राह्म पहला कौन है ब्रह्म लोक में रहने वाले देवताओं का नाम है ब्राह्म ब्रह्म लोक में रहने वाले देवता क्या है ब्राह्म है और प्रजापति लोक में रहने वाले कौन से हैं प्रजापतयो सर्ग एक हुआ ब्राह्म सर्ग दूसरा प्राजापत्य प्रजापति मन दक्षादय इनका जो सर्ग है उसका नाम प्राजापत्य है उसके बाद आया सर्ग इंद्र लोक में होने वाले देवताओं का नाम है इंद्र इंद्र सर्ग हुआ लोक में वाले का सर्ग का नाम है पैत्र और गंधर्व यक्ष रक्षस पिशाचापी देवयोनित्व ये देव ये तो यही सब घूम रहे हैं पर ये भी देव योनि के कारण ये कितने हो गए इनका दैव सर्ग आठ प्रकार का है फिर हमारा बता रहे वही इति अष्ट विधो दैव सर्ग गांधर्वो यक्ष पिशाच राक्षस तैर तिरयग योन मान तिरयग योनि वाले कौन कौन है तिरयग योन पंचदा वो तिरयग योनि पांच प्रकार की होती पहला उसने लिखा है पशु मृग पशवा ग्राम्या जो गांव में रहने वाले पशु हैं गाय भैंस चतुष्पदा इनका नाम पशु है और अस्वादय मृगा मृग से लेना है अरण्य में रहने वाले चतुष्पाद क्योंकि दोनों अलग से पशु मृग मृग के भी चार पैर होते हैं और पशु के भी चार तो भेद करना पड़ेगा तो इनका माना जो शहर में नगर में रह सकते हैं उनका नाम है पशु वो भी चार पैर के ही है और मृग जय रहने वाले अरण्य के जितने पशु है उन मृग पद वाच्य चतुष्पदा हिरण आदया उसके बाद आया पक्षिण मान जो उड़ते हैं गृद्ध आदि ये हो गए हमारा पक्षी सी सरी सरी सरी सृपा अल्प चरणा चरण रहिता वा वो ऐसा जिनके छोटे छोटे पैर होते हैं कीड़ा मकाड़ अथवा जिनके पैर नहीं होते हैं उनका नाप है सरी सृप उनको कहा जाता है ये इसे कौन है तो बताने जा रहा सर्प है ये पैरे नहीं होता बिशी की छोटा छोटा होता है सर्प सतपदी दया ये सब क्या कहला सरीसृप कहलाते हैं स्थावरा प्रत्यक्ष चेष्टा रहिता प्रत्यक्षादया ये प्रत्यक्ष चेष्टा नहीं कर सकते हैं हिताहित परिहार नहीं कर सकते हैं ऐसे वृक्षादियों का नाम क्या है स्थावर ये पांच प्रकार का त्रियग योन है अर्थात सरीसप में कीटादियों जो उनका अंतर्भाव है घटपटादि जितने निर्जीव है घटपटादियों का उसका स्थावर में अंतर्भाव करते हैं इसलिए हो गए ये पांच प्रकार के हो मानुषकस्य एक विधा और मनुष्य का प्रकार का है एक प्रकार का क्यों एक प्रकार का उनकी आकृति के अवयवों में कोई भेद नहीं है ब्राह्मण की वही आकृति है क्षत्रिय के वही हाथ पैर है वैश्य के वही हाथ पैर है शूद्र के भी हाथ पर है स्त्रियों के भाई अंग्रेज का मुसलमान सबका है इसीलिए उन्होंने कहा मनुष्य एक प्रकार का वही लिख रहे हैं यद्यपि आवांतर जात भेदा अविवक्षया यदि मनुष्य की जाति विवक्षा करें तो मनुष्य अनेक प्रकार का हो जाएगा फिर भी वह आवांतर जाति की विवक्षा न कर करके संस्थान से चतुर्सपी वर्णेशु अविशेषा जो संस्थान में जो अवयव है माने आकृति जो हम सब की है इसका नाम यहाँ संस्थान है उन चारों वर्णों की समान है इसलिए कह दिया मनुष्य क्या प्रकार का होता है एक प्रकार का बता दिया क्या बता दिया एक प्रकार का बताया मनुष्य एक प्रकार का मानुष्य एक विधा वही ब्राह्मणत्व आवांतर जात भेदा विवक्ष संस्थान चतुर्थी वर्ण अविशेषा समासता मन संक्षेपता भौतिक सर्ग घट भौतिक सर्ग का घटपद किसमें अंतर्भाव करोगे तो का स्थावर हेतु मैंने घटपद का भी जो अशरीरी जितने जिनका कोई शरीर नहीं हाथ पैर वाले नहीं पति चलता है उन सब का किसमें अंतर्भाव करना जो सजीव नहीं है उन निर्वीज जितने उन सब का हमको अंतर्भाव कर देना है स्थावर में अंतर्भाव कर देना है किसमें कर देना है स्थावर में जिले घटपट आदि सब किस में आ जाएंगे स्थावर शरीर के अंतर्गत आते हैं यद्यपि ये अशरीर होने पर भी इनका भी क्या कह दिया गया है शरीरधारी कह दी घटपटा दया इस प्रकार से तिरपन कारिका संपन्न हुई अब लिख रहे हैं चौवन चौवन कारिका का उपक्रम करने जा रहे हैं क्या है भौतिक से अस्य सर्गस्य मुझे भौतिक सर्ग जो हमारा कितने प्रकार का आठ पाँच तेरह तेरह चौदह प्रकार हो मैंने आठ प्रकार के देवता पांच प्रकार के त्रियग एक प्रकार का मनुष्य तो आठ पाँच तेरह एक चौदह प्रकार का ये हमारा भौतिक सर्ग हुआ तो वही भौतिक से सर्ग से चैतन्य उत्कर्ष निष्कर्ष निकर्ष मैंने किसी में चैतन्यता अधिक प्रतीत हो रही है किसी में चैतन्यता कम प्रतीत हो रही है इस तारता तारतम्याभ्याम किम भवती ऊर्ध्वा अध मध्य भावेन माने कोई ऊर्ध में रहता है कोई मध्य अथवा कोई कट अधम इसके भेद से उसको तीन भागों में पुनः विभाग कर रहे हैं त्रैविध्यम आहा कौन जो देवता लोग कहाँ रहते हैं ऊर्ध में हम लोग कहाँ रहे हैं मध्य में त्रय कनिष्ठ हो जाते हैं तो इन जो भौतिक सर्ग जो चैतन्य के उत्कर्ष और निकर्ष के तार मन चैतन्य के न्यूनाधिक के कारण पुनः यह क्या कहने जा रहे हैं उनके तीन भागों में उनको विभक्त कर दे रहे हैं ऊर्ध्वम सत्व विशाला विशाला जो हमारे देवता ऊर्धल है तो सत्व धर्म में विशेष है ज्ञान प्रधान है तमो विशाला विशाल मूलतः सर्ग और जो तमो विशाल है वो नीचे वाले मूल माने अधो वाले रहने वाले वो है मूलता का और मध्य रजो विशाल हाँ, जो हम सब लोग मध्य व रजो विशाल हाँ। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत यही ब्रह्म से स्तंभ पर्यंत को तीन भागों में उन्होंने विभक्त कर दिया क्या कर दिया तीन भागों में कर दिया कहा है तो उसकी व्याख्या बड़ी सुंदर कर रहे हैं कि ऊर्ध से क्या लेना है तो सत्य विशाला दिव प्रभृति सत्यांता लोकामन देव अंतरिक्ष सन्नीत भू भुआ स्वा महाजना ऊपर वाले इन्हीं को लेना इन्हीं को ले देव प्रभृति सत्यांत मन देव से लगा करके सत्य लोक पर्यंत अर्थात देव माने अंतरिक्ष फिर पृथ्वी भूमा ने पृथ्वी भू भुआ स्वा महाजना ये सब हो गए हमारा ऊर्ध वाले ये है सत्य बहुला इनमें सत्य गुणों की अधिक प्रधानता है तमो विशाल मूलता सर्ग पस्वादी स्थावरांत पशु से लगा करके स्थावरांत ये क्या कहलाते हैं कि तमो इनमें अधिक है सोयम मोहयति तमो बहुला क्योंकि ये सब क्या है तमो बहुल इसलिए सब जीवों को मोहित कर देते हैं थोड़ी थोड़ी खाने के चक्कर में जीव मर जाता है जो मोहित कर देता है इसलिए तमो बहुल है लोकस्तु सत्व दीप समुद्र कांच क्रौंच इस प्रकार के सात दीप हैं इस पृथ्वी में सप्त दीपा वसुंधरा महाभाषकार कहते हैं यह सप्त दीपा वसुंधरा है कांच क्रौच जम्बू ऐसे प्रकार के सात द्वीपों के नाम हैं उन सात द्वीपों वाली यह पृथ्वी है इस पृथ्वी का उसी लेकर यहाँ भूलोक से लिया था सप्त दीपा वसुंधरा का नाम भूरलोक है समुद्र अवकाश सप्त दीपा और दूसरा दीप समुद्र सन्निवेष्टा मैंने सात दीप है और चारों सभी दीपों में चारों तरफ क्या है समुद्र भरा हुआ है ताम इमाम लोक स्थिति मैंने वह इस लोक की स्थिति को संक्षिपति संक्षेप से कह रहे हैं कि ब्रह्माद स्तंभ पर्यंता इतने ब्रह्म से लगा के स्तंभ पर्यंत को तीन भागों में भाग कर लेना कितना अधिक बताएं विस्तार कितना करें यहाँ स्तंभ से तात्पर्य वृक्षादि सबसे छोटी वस्तु स्तंभ ग्रहणम उपलक्षणम वृक्षादयोपी संग्रहीता स्तंभ का मतलब है वृक्षादि ये सब के सब लेना है पूरे के पूरे आ जाते हैं अतः भूर लोक जो है थोड़ा थोड़ा सब में अंतर कितना कितना क्रम से तारतम्य से अतः यहाँ भूलोक में भी तम के उत्कर से पशु आज बता दिया अब यह सप्त द्वीपा वसुंधरा सात द्वीपा वाले जो वसुंधरा जिसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है अब बताने जा रहे हैं पचपनवी कार्य का आरंभ कर रहे हैं तदेव सर्गम दर्शित्वा माने सर्ग को दिखा करके अब क्या दिखाने जा रहे हैं अपवर्ग का जो साधन है वो अपवर्ग माने मोक्ष का साधन क्या वैराग्य है वैराग्य कब आएगा जब इनमें हमें सब में दुख की प्रतीति होने लगे किनमें संसारिक वस्तुओं में दुख का दर्शन होने लगे तो हमारा क्या हो जाएगा वैराग्य हो जाएगा क्या हो जाएगा वैराग्य तो वही कहने जा रहे हैं कि तदेव सर्ग को दिखा करके दुविध सर्ग था उस दिव्य सर्ग के बाद उसका जो भौतिक सर्ग था उसके चौदह वेद बताए उन चौदह को फिर तीन भागों में व्यक्त कर दिया अब पूरा सर्ग की अब इससे उनको सर्ग से मुक्ति करना है अपवर्ग चाहिए अपवर्ग का साधन कौन है वैराग्य उस वैराग्य कैसे होगा उसकी उपयोगी जो स्थिति दुख रूपता वो दिखाने जा रहे हैं तदेव सर्गम दर्शयित्वा मन सर्ग के विषय में बता करके तस्य तस् मन सर्गस्य अपवर्ग साधन वैराग्योपयोगिनी ये सर्ग हमारे दृष्टि से हट जाए हमको मोक्ष मिल जाए इसकी उपयोगिनीम दुख रूपताम आहा उसकी दुख रूपता को बता रहे हैं क्या है तत्र जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतना लिंग से निवृत्ते तस्मा दुखम स्वभाव क्या जो चेतन पुरुष है तत्र इस संसार में जो शरीर है जितने शरीर आठों चौदह प्रकार इन चौदह प्रकारों के जो शरीरों में क्या उसको मिलता है उस पुरुष को जरा मरण कृतम दुखम कहा प्राप्त होती चेतना पुरुषा क्योंकि भोक्ता पुरुष है भोक्ता का मतलब है सुख दुख अन्य तरह साक्षात्कार का आश्रय तो दुख का आश्रय कौन हो जाएगा पुरुष हो जाएगा उसके ज्ञान का इसलिए कह तत् जरा मरण कृतम दुखम प्राप्त होती कहा चेतना पुरुषा चेतन जो पुरुष है वह क्या करता है जरा मरण दुख को प्राप्त होता है लिंग से अनिवृत्ति जब तक लिंग शरीर नहीं हटेगा तब तक क्या होगा स्वभावीन तस्मात दुखम ये स्वभाव था उसको दुख होता ही रहेगा होता ही रहेगा कभी जीव सोचता मैं नहीं हूँ मैं न मरू ये भी दुख होता है वही यहाँ घटा रहे हैं अब तत्सांग तत्व कौंदी क्या लिख रहे हैं कारिका की व्याख्या तत्र शरीर आदो माने तत्र कारिका में तत् दुख में तत्र होता शरीर लेना है यद्यपि बधा विचित्रानंद भोग भागिना भृत भेदा यद्यपि बहुत से विचित्र आनंद भोग भागी प्राणियों के भेद लोक में देखे जाते हैं अलग अलग कोई खुशी है कोई नाराज फिर भी तथापि सर्वेशम एक भय सबको रहता है मर ना जाए कोई बुढ़ापा ना आ जाए यद्यपि वो सुखी हैं बहुत से लोग आनंद अनुभव कर रहे हैं लोक में और सबको एक भय रहना रहता है कि हमको बुढ़ापा आ जाएगा मर जाएंगे वही तथापि सर्वेशम प्राणी नाम जरा मरण कृतम दुखम अविशिष्ट मन समानम सबको जरा मरण का दुख सबको सताता है चाहे राजा हो चाहे एकदम गांव का गमार हो सबको एक चीज सबको सताती जरा मरण कृत दुखम सर्वस्व खलु क्रमेरपी मरण त्रासो हो मान भूवम जो कृमि है एकदम कह रहे हैं जो सबसे छोटा जीव है वो विकास होता है माँ न भूवम ममा ने मम नासो न मेरा नाश मत हो मैं ना मरूं मैं सर्वदा जीवित रहूं कृमि भी यही चाहता है तो मानव की कौन गति है भाई सर्वस खलु क्रमेर मनात्रासो माँ न भूवम मैं मत हो भूयासम मैं आगे नहीं हूँ ऐसी बात हमेशा मैं रहूं ऐसा वो सोचता है जा भय हेतु और उस दुख क्या है भय का हेतु मरण है मन दुख क्यों हो रहा है भय का कारण क्यों ना है तो मरण है अतः मरण को भी क्या कह दिया गया दुख कह दिया गया यद्यपि दुख मरण नहीं है मरण के चिंतन से दुख होता है फिर भी तादर्थ्यात शब्द प्रयोग कर दिया हे तुम हे तुमान का अभेद व्याख्या कर दी सदेत दुखादया प्राकृता बुद्धि गुणा यह दुख है ये सब प्रकृति से जायमान है क्योंकि दुख है तो कह रहा बुद्धि के गुणमानों फिर वह पुरुष में कैसे चले जाते हैं पुरुष को कैसे अनुभव होता है कहाँ रहने वाले हैं सब बुद्धि में और पुरुष में कैसे चले जाते हैं पुरुष को दुख कैसे प्राप्त होता आपने कह दिया दुख तो किसका धर्म है ये बुद्धि का धर्म है वही सुखाद या प्राकृता ये सब सुखादि सब क्या सत्व सत्वम सुखे संजयती सत्व का काम है सुख रज का काम है दुख और तम का काम मोह ये तो गुणों के ही परिणाम है तो प्रकृति वाले कहना पुरुष में तो रहेंगे नहीं तो आप कैसे कहते हैं चेतन पुरुष संबंधी ना कथम ये चेतन नो भवंती फिर चेतन पुरुष के संबंधी कैसे होते हैं इत्यताह पुरुष पूरी लिंगी सेतित पुरुषा पूरी माने वही लिंग शरीर उसमें रहने का पुरुष है लिंगन जातक संबंधी और लिंग इन्हीं प्रकृति से बना हुआ है संबंधी चेतनोपिमल लिंग से उसका संबंध होने से वह चेतन भी क्या हो जाए उसका संबंधी कहलाता है अतः उन दोनों में क्या अत्यंत अभेद तादात्म्याध्यास हो गया इसलिए पता नहीं चल पा रहा है तो कह रहे कुता पुनर्लिंग संबंधी दुखम है वह लिंग में शरीर में दुख है और पुरुष चेतन को कैसे मिल जाता है तो लिंग से अनिवृत्ते अभी लिंग का शरीर का उस चेतन पुरुष से अलग नहीं हुआ है उसके साथ क्या था लिंग सजी का विनाश नहीं हुआ है विनाश नहीं इसलिए पुरुष को दुख मिलेगा पुरुषात भेदा अग्रहत पुरुष के साथ और यह लिंग शरीर दोनों अलग अलग ऐसा भेद नहीं जैसे लोहा और अग्नि के साथ तादात्म हो जाने से हम कहते हैं लोहा ने जला दिया उन दोनों का भेद ग्रह नहीं होता है उसी प्रकार लिंग और पुरुष का भेद ग्रह न होने से स्थिति पुरुष वेदाग्रहात लिंग धर्मान धर्मा धर्मान आत्मनि अध्यक्ष लिंग धर्मान लिंग के जो धर्म थे मैंने वो संपूर्ण धर्म किसमें अध्यास करता है आत्मा में पुरुष अपने में मान लेता है अथवा दुख प्राप्त अधिराट कथ्यते अवधि आंग यहाँ का है ना दुख से अनिवृत्त लिंग से अनिवृत्ति में जो आ उपसर्ग है उसको बताने जा रहा वो दुख की प्राप्ति की अवधि कहता कब तक दुख होता है जब तक लिंग शरीर रहता है जब लिंग शरीर चला जाएगा तो दुख चला जाएगा कथते लिंगम यावन निवर्तते तावत दुखम जब तक लिंग शरीर की निवृत्ति नहीं होती है तब तक क्या रहता है दुख रहता ही है क्या रहता है उसको दुख बना ही रहता है यही तक रहता